सत्रहवीं एक शख्स खुदा के रसूल के पास आया इसने कहा ए खुदा का रसूल मेरे साथियों की भलाई वाले लोगों का सबसे ज्यादा हक कौन है आपकी वालिदा ने कहा इसने कहा फिर कौन इसने कहा तुम्हारी माँ इसने कहा फिर इसने कहा तुम्हारी माँ इसने कहा फिर इसने कहा फिर तुम्हारे वालिद